असि रघुपति ले धनुज विमोहने जन जे मति मलिन बस कामे प्रभु परमोह धरहि एमि स्वामी नयन जा कह जब हो पीत बरन ससी काहु कह सोई जब जय देशि भ्रम होहि खगेशा पक्षिम उदेशा हे गरुण जी ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है हे स्वामी जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं जब जिसको कवल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है हे पक्षीराज जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है चलत जग देखा अचल मोह बस आप बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहारे कहीं परस्पर बारी हरि विषय कयस मोह विहंगा सपने हुन ज्ञान प्रसंगा माया बसमती मंदय भागी हृदय जमनी का बहु विधि लागी तेसठ हठ बस संशय कर हे निज ज्ञान राम पर धर हे नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं घर आदि नहीं घूमते पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं हे गरुण जी श्रीहरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है भगवान में न तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं काम क्रोध मद भरत गृहासक्त दुख रूप ते किमि जान रघुपत है मूढ़ निर्गुण रूप सुलभ यते सगुण जान नहीं सुगम यगम नाना चरित सुनि मुनि भ्रम मन हो जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है सुनु खगे सरगो पति प्रभुताए कहूँ जथामते कथा सुहाय यही विधि मोह भयव प्रभु मोहे सौ सब कथा सुनाव तो ही राम कृपाभा जन तुम ताता हरिगुण ताते मोहि सुखदाताते नहि कथु तुमहि दुरावमरहस्य मनोहर गाव हे पक्षीराज गरुड़ जी श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ हे प्रभो मुझे जिस प्रकार मोह हुआ था वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ हे तात आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ सुनऊ राम कर सहज सुभाव जन अभिमान राख संस्कृति मूल सुल प्रदनाना सकल शोकदायक ताते तरहि कृपानिधि दोरी सेबक परपमकायति भोरिं जिमि सुतन व्रण होहि गोसा मातु चिराव कठिन कठिन की नाई श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है इसीलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है हे गुसाई जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है यद्यपि प्रथम दुख रोवई बाल बालयधे ्याधिना सहित जनने गणति न सो शिशुपीर तिमि रघुपति निज कर हरहिमान हितलागे तुलसीदास जैसे प्रभु प्रभुहे बस न भजहु भ्रम त्यागी यद्यपि बच्चा पहले फूड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भसते